कि आत्मा कभी सम और विषम होता है अथवा होने का सवाल ही नहीं जब मन समभाव में आ जाता है अप्रचलित भाव में आता है तब कोई कल्पना नहीं हो सकती उसमें आत्मा तो सदा ही अप्रचलित है तो सर कल्पना कहां से इसे यह मानना पड़ेगा आपको ये आत्म स्वरूप के ऊपर अद्वैय भाव पहले है एक कल्पना अद्वैय भाव की कल्पना हुई उस अद्वैय भाव की कल्पना के बिना द्वय भाव की कल्पना नहीं हो सकता इसे अवस्थाओं को लेकर चित्रपट को बहुत सुंदर समझाया हुआ है पहले केवल पट था यानी केवल पट पर चित्र आप ढंग से नहीं बना सकते उसे घटित पट बनाया मार छाया उसने मंड डाल दिया और का कपड़ा बना दिया और घटित पट हो गया फिर उसके ऊपर लांचित पट बनाया रेखा रेखांकित हो गया तो उसे रंग भर दिया तो रंजित पट हो गया ये व्यवस्था दिया वहां पर उसी तरह आपको मेरा मानना पड़ेगा आत्मा अप्रचलित है जब तक तो उसमें द्वय भाव रूपी कल्पना रूपी घटित पट के समान कोई चीज ना हो तो द्वय भाव की कल्पना हो नहीं सकती इसलिए कहते हैं दृष्टान्त चार के दे रहे अप्रचलित मनसी कश्चित भाव उपलक्षित केनचिदपि न शक्यते न चात्म प्रचलन अस्ती और आत्मा के अंदर प्रचलन होता नहीं प्रचलित उपलब्ध माना भावा प्रचलित के अंदर है उपलब्ध होने वाले भाव जो होते हैं न परमार्थ कल्प कल्पय तुम शक्य जो परमार्थ से विद्यमान वस्तु में उनकी कल्पना भी वास्तव में नहीं हो सकता अतो इसे मानना पड़ेगा सत कोई कल्पित वस्तु हो नहीं सकता कल्पित वस्तु कभी सत नहीं हो सकता अतो असद प्राणारी प्राणादि भाव ही अद्वयन च परमार्थ सता परमार्थ सद्भाव से युक्त जो आत्मा के द्वारा रज्जवत सर्वकल्प सदभूति न अयम स्वयं आत्मा कल्पित ये आत्मा स्वयं ही कल्पित हो गया इस प्रकार से सदा ही एक स्वभाव वाला होने पर भी के च प्राणादि भावा अपि अद्वैन सता आत्मा विकल्पिता जितने प्राणादि भाव पदार्थ है द्वैत भाव पदार्थ अद्वैत के सत अद्वैत रूप आत्मा के साथ साथ वो भी कल्पित है क्योंकि आत्मा में जो आप अद्वैत तत्व कह रहे हैं वो भी द्वैत की अपेक्षा करती है वास्तव में उसको अद्वैत भी नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं अद्वैन सता आत्मनैव सह विकल्पिता तृतीय इसलिए है इस अद्वैत सद आत्मा ऐसा जो आप मानते हैं उसके सहित समझ प्राणादि भाव भी कल्पित है नहीं निराश पदार्थ का कल्पना उपलब्ध है क्योंकि ये प्राणादि पदार्थ भी जो अद्वितीय स्वरूप आत्मा से ही कल्पना किए गए हैं तो कल्पक है आत्मा लेकिन कल्पक भी सापेक्ष कल्पकता मान जाएगी या तृतीय कर्तृत्व में वो तो कल्पना करता है आत्मा से ही कल्पित है प्राणादि भाव और जो कल्पना थे तो उस द्वैत के अपेक्ष स्वयं में अद्वित भी कल्पना हुए कल्पनाएं तो है जैसे कोई भी आदमी है आदमी है है ना आदमी है बात खत्म हो गई नहीं होता क्या है जब वो किसी दूसरी की कन्या को अपने पत्नी रूप में कल्पना करेगा तो अपने अंदर में वो पति कल्पना नहीं करेगा उसके ना हो जाएगा क्या है मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम मेरी पत्नी है लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ ऐसे कोई कहेगा कि जब दूसरे में पत्नित्व जो स्वीकार करता है जब तब तो स्वयं में उसके पतित्व को स्वीकार करनी ही पड़ेगी उसके बिना व्यवस्था ही नहीं हो सकती संबंध नहीं बनेगा इसी जब आत्मा से आप इसको कल्पित मानोगे जब द्वैत तत्व की आप कल्पना मानोगे तो स्वयं में भी किसी धर्म की कल्पना माननी ही पड़ेगी क्या है वो अद्वैत तत्व की कल्पना कल्पना कल्पना करने वाला स्वयं में भी धर्म का आरोप किए बिना दूसरे कल्पित के तो संबंध भी जो अधिष्ठान अधिष्ठित भाव है ये संबंध नहीं बन सकता यदि स्वयं अद्वैत की कल्पना न करें तो द्वैत के साथ इसका संबंध नहीं बने मिथ्या समझ जो मान रहे हो भी नहीं हो यहाँ पर जान के तृतीया प्रयोग किया है और आगे उसको निषेध भी कर रहे तीसरे क्यों पहले उसका कारण दिया क्यों पदा काचित कल्पना नौपलब्ध है अधिष्ठान रहित कल्पना तो कभी भी संभव ही नहीं है अतः सर्वकल्पनात्मकता स्वेन आत्मना अद्वेश अभिविचारा सर्वकल्पनात्मकता सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान होने के कारण स्वेन आत्मना जो स्वस्वरूपेण अद्वैस्य विचारा तो अद्वै भाव जो स्वयं मान रहा है उसका विचार कभी नहीं होता कल्पना अवस्थायाम अपनी अद्वैता शिवा ये कल्पना अवस्था में भी वो अद्वैत ही रहेगा और इसलिए तो वही मंगल में समझना चाहिए और वे विचारी जो स्वरूप है वह मंगलमय है और ये विचारी स्वरूप का कोई भरोसा नहीं कब वो धोखा दे देगा इसलिए अशुभ रूप है कल्पना तो अशिवाहा और जो भी कल्पना है वो कैसा है अशिव रूप ही है रज सर्पाधिवत त्रासाधिकारिण्य ही ताहा सर्पाधिक के समान त्रास आदि का कोई उत्पन्न करने वाले वे सब कल्पनाएं होते हैं अद्वैता अभया और अद्वैता क्या है अभय रूप है अतः व शिवा वही मंगलमयी है यह मानना पड़ेगा पूर्व कारिका में ये अध्ययन किए थे कि अद्वैता शिवा जो अद्वैत भाव है यही मंगलमय है कल्याणकारी है आनंद रूप है दिशा प्रेमास्पद परम आनंद स्वरूप है ये आपने निर्णय लिया कदे कैसा हो सकता है भले जगत आप कह रहे हैं है तो जब तक कोई वस्तु है आप मान रहे हैं वो मिथ्या रूप से है फिर तो तंग जरूर करेगा मरा हुआ शाम भी परेशान करता है परसों ऐसे हुआ एक को गंगा जी में नहा रहा था लंबा चौड़ा काला एक साल तो जैसे वो यूनिवर्सिटी सेंटर है वहां की जैसे वो गंगा जी पैर रखे वो घाट बनाए हुए हैं तो वो पैर सीधा सांप में लग गया नीचा मातू में मरा हुआ वो चिल्ला करके वो कूद फान करके बाहर आ गए तो धीरे से देखा उसको नहीं वो पानी के कारण से हिल तो रहा है लेकिन वो जिंदा हिल रहा है कि मरा हुआ हिल रहा क्या पता और उसका चेहरा कहीं दिखता नहीं अंदर फटा पड़ा समझ में नहीं आया उन लोगों को किसी ने स्नान नहीं किया स्नान किए दूसरा दिन हुआ क्या कि वो जिस दिन ग्रहण था उस दिन सवेरे का समय वो तो सब बहाव में आकर के वहां से निकल के दूसरे जगह आ गया तो बीच में वो तालाब तक बना रखे छोटा सा गंगा जी के भीतर चारों तरफ वो बना दिए हैं बीच पानी है और उसमें घूम रहा है और कटरा पवन तो मरा हुआ है तब फिर उन्होंने उसे निकाल करके बाहर लेकिन जब तक आप है मान रहे हो किसी चीज को तो परेशानी तो मन में होगा अद्वैत तो हो नहीं सकता इसलिए हमें विचार करना है यदि है हम कहें इस द्वैत को तो किस रूप से है ये आत्मा के साथ अत्यंत अभिन्न होकर रह रहा है ये अत्यंत भिन्न होकर रह रहा है मिथ्या रूप में है मानने में भी विचार करना पड़ेगा किस रूप से विचार करके देखते हैं तो वास्तव में कुछ भी नहीं है बनता नहीं है इस द्वैत के स्वरूप को आप सिद्ध नहीं कर सकते उसी के लिए अगली कार्य का आरंभ हो नात्म भाव नानेदम न स्वेनापी कथंचन न पृथंग न पृथक किंचित यदि तत्व विदो यह बात तत्वता स्पष्ट का है कुतश्च अद्वैत शिवा प्रश्न फिर उठा फिर अद्वैता कल्याण रूपा मंगलमय कैसे हो सकता है अब कैसे हो गया हो कारण यह है न आत्मभाव मानेदम न स्वेरा भी कदंचन न प्रथम ना पृथक किंचित न आत्मभावे इदम नाना नानात्मक भेदात्मक जगत है वो आत्मभाव से नहीं है ये जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं वह मंगल इसलिए ही है कि ये अद्वितीय परमात्म सत्य स्वरूप परमानंद स्वरूप आत्मा से यह प्राणादि संसार समुदाय जो जगत है ये जगत परमार्थ स्वरूप नहीं है और सत्ता में मान लो उसकी अपनी जैसे सांख्य वगैरह मानते हैं आत्म सत्ता का नहीं है स्वसत्ता का है वो स्वतंत्र है वो अब तो ये उसकी अपनी स्फूर्ति भी है और अपनी सत्ता भी है दोनों ही है सत्य उनको लेकर स्फूर्ति है रज गुण को ले और सत्व तम गुण को ले सत्ता है तब कहते नहीं नहीं ना स्वेना किसी भी प्रकार से आप उसके स्वयं की स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र स्फूर्ति को सिद्ध नहीं कर सकते उनकी यह जो द्वैत है यह आत्मा से न पृथक आत्मा से अलग होकर आपको अनुभव में नहीं आ रहा है आप भी नहीं सकता अपने स्व को छोड़ करके जगत का अनुभव करने की चेष्टा कीजिए कर नहीं सकते क्योंकि आप अपने स्व को त्याग नहीं सकते क्या आप अपने स्व को छोड़ दो मैं नहीं हूँ और फिर जड़ को देख लोगे तो कौन देगा आपसे पूछा जाए आप नहीं है तो फिर देखा किसने अब कहना पड़ेगा मैंने देखा पर इस तो आप है किसी और ने देखा और आपने जान लिया ये तो हो नहीं सकता फिर तो कृतव्य प्रणाश अकृतभ्यागम दोष तो आ ही जाएगा नहीं तो इसीलिए कहते हैं कि देखो ये तो संभव नहीं है कि आपके बिना द्वैत की सत्ता रह जाए इसलिए आपके बिना ये है नहीं इसलिए आपसे पृथक है नहीं जिन चित्रों का जिस पट की सत्ता के हो नहीं सकता वह वे चित्र जितने भी हैं वे उस पट सत्ता से की, से अग्नि सत्ता वाले हैं पृथक सत्ता वाले हो नहीं सकते अतः पट से अभिन्न चित्र है ये कहा जाएगा क्योंकि वह पट में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार मुझे दिखाई दे रही मुझसे अभिन्न कहना पड़ेगा लेकिन वो मुझ में है क्या वास्तव मुझ में है भी नहीं अतएव इसको पृथक भी मानना पड़ेगा न पृथक न अपृथक पृथक नहीं है मैंने पहला पक्ष अभिन्न है आदर न पृथक अभिन्न भी नहीं है वो अभिन्न है और अभिन्न नहीं है अधिष्ठान दृष्टिया इनका कहा जाए वो भी वस्तु को देखते हुए ये वस्तु कहा है जहाँ दिखाई दे रहा है वहां वह उससे अभिन्न होकर दिखाई दे रहा है और अपने वस्तु दृष्टि देखा जाए वो अभिन्न भी नहीं यदि अत्यंत अभिन्न होता तो ये सचिदानंद रूप होना चाहिए व्यविचारी नहीं होनी चाहिए और ये विचारी से अत्यंत अभिन्न वस्तु में विचारी कैसे हो जाएगा होगा क्या जो जिससे अत्यंत अभिन्न है वह कभी व्यविचारी होता नहीं है इसे तो करे जीव ईश्वर से अभी निषेध करना पड़ेगा मानना पड़ जाता है यदि ईश्वर विचारी नहीं है और जीव विचारी नहीं है दोनों अव्य विचारी इस तो दोनों अत्यंत अभिन्न है बिना ही नहीं इसलिए क्षेत्र चापे माम विधि का ये दोनों ही अव्य विचारी है सोपारिक रूपेण आप दो कह रहे हैं वास्तव में लेकिन पारमार्थ दृष्टिया दोनों एक है इसी तरह यहाँ पर भी उपाधि उदा प्राणा दृष्टिया कहा जा रहा है कि ये कहा है ये आत्मा से अभिन्न कहा जा रहा है अत्यंत अभिन्नता जीवेश्वर आप मानना चाहो तो खंडन कर दे नहीं नहीं वो अत्यंत अभिन्न भी नहीं है ऐसे ही तत्वता लोग इस ब्रह्म तत्व को और जो द्वैत के स्वरूप को समझ रहे हैं द्वैत के स्वरूप को इसी प्रकार से ग्रहण करते हैं कि ये जो द्वैत है वास्तव में आत्मा से अभिन्न है इसलिए पारमार्थिक इसका कोई स्वरूप नहीं और आत्मा से भिन्न होकर इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता स्वतंत्र स्फूर्ति पूरा ये अपनी स्वरूप निज स्वरूप सिद्ध हो जाए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि निज स्वरूप सिद्ध होता तो वह विचार कभी नहीं हो सकता था और आत्मा के बिना भी इसका अनुभव हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है अतएव मानना पड़ेगा इसकी आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता स्फूर्ति भी नहीं इस प्रकार से जगत के स्वरूप को तत्वता लोग जानते हैं कुतश्च द्रोदा शिवा नानाभूतम पृथत्म अन्य अन्य यत्र दृष्टम तत्र अशिवम भवे जो नानाभूतात्मक जगत है जो पार्थक्य आप एक दूसरे से देख रहे अन्य पृथत्म नाना नानाभूतम यत्र दृष्टम जिस अधिष्ठान में आप एक से दूसरे को भिन्न रूपेण नाना रूपेण अनुभव करते हो तत्र तदा शिवम भवे निश्चित रूप से उस अधिष्ठान में वह द्वैत प्रपंच कैसा है अकल्याण रूप यह मानना पड़ेगा अशिवम भवे नहीं अत्र परमार सत्यात्म प्राण संसार जातम जगदात्माव परमार्थ स्वरूप निरुप्यमाणम नावस्तंत्रभूतम भवती की यह जो यस्मा ही मन यस्मा परमार्थ सत्यात्मनी परमानंद स्वरूप है जो यह द्वय है पारमार्थिक सत्य आत्मरूप है उसमें प्राण संसार भूता समूह भूता यह जो जगत है वह आत्मभाव से मैंने अपनी स्वतंत्र सत्ता से भी नहीं और परमार्थ स्वरूप अपनी कोई निज सत्ता को लेकर विद्यमान हो ऐसी बात भी नहीं और इसके कोई पारमार्थिक स्वरूप में आत्मस्वरूपेण पारमार्थिक में विद्यमान हो ब्रह्म स्वरूप विद्यमान हो अभिन्न कर गए ऐसी बात भी नहीं है विनिरूप्यमाणम नाना वक्तंत्र नाना रूपी जो वक्तंत्र स्वरूप है वो अत्र न भगवती सत्य आत्मा में नहीं हो सकता था रज्जु जैसे कि रज्जु को देखिए उस रज्जु स्वरूपेण सर्प है क्या नहीं है अच्छा सर्प रूपेण सर्व भी रज्जु में नहीं सर्प अपने स्वतंत्र सत्ता को लेकर क्या रज्जु में है क्या यदि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो तो रज्जु में कैसे होगी अगलोक गड़बड़ रहेगा जो सर्प अपने स्वतंत्र सत्ता वाला आप जागर आदि अन्य कालों में अन्य तरह अनुभव करते हैं वो जो सर्प में क्या है वो काल का रूप है इधर आप डरते हैं या नहीं आपको भय है ये डसेगा तो हम मर जाएंगे क्योंकि आप मरने वाले हैं ही नहीं इन्हें भ्रांति घुसा पड़ा है शरीर का मरने का भी भय से अपना मरने का भय बना हुआ है यही तो पातन सूत्रकार ने अभिनिवेश शब्द स्पष्ट कहा है कि सभी के अंदर आठ आखिर से ब्रह्मा जी पर्यन सब के अंदर घुसा पड़ा है ब्रह्मा जी के अंदर जीवन मुक्त स्वरूपता का अनुभव होता है तभी उनको अवय पद की प्राप्ति तो जीवन मुक्त जो ब्रह्मा और उनकी बात अलग है ब्रह्म पद को प्राप्त करना एक अलग चीज से जीवन मुक्त जो ब्रह्मा जो आदि काल में हुए हैं सृष्टि की उत्पत्ति काल में माना जाता है उनकी बात अलग है तो ब्रह्म पद प्राप्त करते ना तपस्या बड़े बड़े राक्षसों ने भी किया तो इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र चीज दिखाई देता है लेकिन वो जो सप में आपने देखा कि ये जहरीला है इसके अंदर जहर है तादृश वो दोष आदि से विशिष्ट सुगंध सर्प वाला जो स्वतंत्र आप देते सत्ता वाला सर्प बाहर तारस सर्प क्या उस रज्जु में हो सकता है आदमी रूप है ना तो रज्जु का कटने से मर जानी चाहिए रज्जु चुप जाए रज्जु चुपता है रस्सी उसके जो धागे उनके रहता है कड़क होता है वो चुप जाता है तो मर जाना चाहिए क्योंकि उस रज्जु में सर्प है नवीन रूपेणा रहता है अपनी सत्ता को लेकर रह रहा है मारेगा लेकिन खूब आप काम करते हैं कई बार चुपता है मरता तो कोई है नहीं इस अंदर वो अत्यंत अभिन्न रूपेणा स्वतंत्र सत्ता वाला लेकर के किसी अधिष्ठान में भी नहीं रह रहा अपनी कोई सत्ता उसकी नहीं मानी इसलिए आत्म आत्मभावे न मैंने स्वसत्ता विशिष्ट होकर के और परमार्थ स्वरूप पारमार्थिक रूप से भी वह निरूप्यमाणम नाना वस्तुभूतम न भवती नाना वस्तुभूत जो निरूप्यमाण जो आपके ये जगत है वो आत्मभाव परमार्थ स्वरूप से उसके अंदर विद्यमान नहीं है जैसे कि आत्मभाव नहीं क्या मुश्किल बता कार्यकाल में आत्मभाव नानेदम नानेदम करते प्राण संचार जातम इदम जगत नाना वस्तुभूतम आत्मभावेण मैंने परमार्थ रूपेण अस्मिन यदा रज्जु स्वरूपेण प्रकाश निरूप्यमाण यदा रज्जु स्वरूपेण प्रकाश निरूप्यमाण न नानावत कल्पित सर्वस्ती तद्वत जिस पर रज्जु स्वरूप से विचार करके देखे तो उसका अपना जो निज स्वरूप क्या है प्रकाशात्मक स्वरूप से निरूप्य मानो न नानाभूत कल्पिता वह भूत जो सर्प है वह उस पर वास्तव में कल्पित भी नहीं है तद्वत ठीक उसी अपनी स्वतंत्र सत्ता से मारे मानो अधिष्ठान सत्ता के द्वारा नहीं है अधिष्ठान सत्ता से कल्पित की अपनी कोई सत्ता नहीं बनवा रही है इन कल्पित की अपनी सत्ता जो अधिष्ठान में रह रहा है जैसे आप इस अधिष्ठान में रह रहे हैं रह रहे होंगे बैठे हो कि आपकी अपनी सत्ता से बैठे हुए हैं अधिष्ठान की सत्ता से आप उज्जीवन नहीं है अधिष्ठान की सत्ता से पृथक सत्ता वाला आप होकर अगर है उसी प्रकार मान लो उस रज्जो में जो विद्यमान सत्ता वो अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहा है यदि स्वयं सत्ता रहता है तो कार्यक्षम भी हो जाएगा इसलिए कहते कि देखो नाव स्वयं प्राणाध्यात्मना प्राणाय रूप से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वतंत्र स्फूर्ति को लेकर के यह जगत न विद्यते कदाचित कभी नहीं एक क्षण के लिए आगे फिर मुश्किल हो जाएगा कभी भी वो वह हो नहीं जो प्राणादि समूह अनुभव करते हैं जो शरीर इंद्रिया आदि अनुभव कर रहे हैं सत्ता में वे अपनी सुदृढ़ सत्ता वाले हो नहीं सकते और आत्मसत्ता इसमें संबद्ध होता नहीं आत्मसत्ता वाले ये होते नहीं और इनकी अपनी कोई सत्ता होगा नहीं न कभी होगा है न हो सकता है न कभी होगा रज सर्वत कल्पित देगा प्रज सर्ग समान कल्पित होने के नाते इनकी अपनी कोई सत्ता हो नहीं सकती कल्पित किसी भी वस्तु की अपनी सत्ता होने लग जाए वह भी क्रिया फलशाली हो जाएंगी उसमें भी कार्य तो आ जाएगा और वह भी अपने कार्य फल देने में सक्षम हो जाएगा अर्थ क्रियाकारित्व जो शब्द से कहा जाता है वो उस वस्तु में आने लगेगा कल्पित किसी वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व होता नहीं जब तक उसने किसी भी प्रकार की सत्ता को स्वीकार न करो तब तक उसमें अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं कि वह कल्पित तो होने के नाते रज सर्व के समान और प्राणादि रूप से भी वास्तव में अपनी स्वयं की सत्ता को लेकर विद्यमान नहीं हो सकते तथा अन्योन न पृथक प्राणादि वस्तु तथा स्वाद महिष इसी तरह से प्राणादि वस्तु परस्पर एक दूसरे से पृथक है ये भी आप नहीं कह सकते हैं जैसे आप लोग सब इतने लोग बैठे हैं और सभी के दिमाग में है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से पृथक है सबके अंदर दिमाग में है कि नहीं है हम सब अलग अलग है, है कि नहीं कोई अजय है कोई संजय है कोई विजय है कोई प्रजय है पता नहीं क्या क्या है सब अलग अलग है या नहीं लेकिन वास्तव में अलग कहते तो नहीं है कैसे मानो है यहाँ के बड़ा गड़बड़ हो जाता है कहते हम भी आपस में सभी एक है सब कल्पित है भेद जो हमारे आपसी भेद है वो कल्पित है कल अन्योन्यम अपनी न पृथक ये परस्पर एक दूसरे से भी वास्तव में पृथक नहीं है कौन करे प्राणाली प्राणाली घटबड़ा संसार सजीव निर्जीव ये तो पदार्थ ये भी वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं है न अन्योन्यम पृथक क्यों क्योंकि यथा अश्वाद महेश पृथक एवं जिस प्रकार से आप लोग भ्रांति से अचु से पृथक महिष ग्रहण करते हो वैसे आप प्राणादियों के एक दूसरे से भिन्न पृथक ग्रहण कर रहे हो लेकिन वास्तव में पृथक नहीं है शरीर पृथक है आत्मा एक है मन पृथक है बुद्धि पृथक है अहंकार पृथक है सब अलग हो सकते हैं क्योंकि सब कल्पित है भिन्न भिन्न कल्पनाएं कल्पनात्म में भी एक है ये नहीं आए उनके भाषा से विचार करते तो कल्पनात्मा छिन्न होकर के ये सारी कल्पना एक जाति छिन्न होकर एक रूप वाले हो ही जाएंगे और जो घटत बढ़त बढ़ता जाति प्रभेद आप परिकल्पना कर रहे हो वो भी जातित्व जाति सामान्य सामान्य में कम सामान्य मानते नित्य एक है तो इसलिए कहते हैं कि वास्तव में ये जो प्रभेद हम विचार करके हैं तो है वास्तव में वो पारमार्थिक दृष्टिया ये प्रभेद सिद्ध हो नहीं सकता न चन की व्याख्या कर रहे किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते इनकी परस्पर वेद भी सिद्ध नहीं कर सकते अतः हाँ, तो असत्वात ना पृथक विद्यते अन्य परिणवा किंचित इसलिए इनके वास्तविक स्वरूप कुछ भी न होने के कारण इनको आप आत्मा से अलग या परस्पर भी अलग ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए न अपृथक विद्यते सत्वात न अपृथक विद्यते अर्थात पृथक हो है ऐसा कथन नहीं कर सकते एवं परमार्थ तत्व विद ब्राह्मण इस प्रकार से परमार्थ तत्व के वेत्ता लोग ज्ञानी लोग जानते हैं अतो अश्व हेतुत्व भावाद अद्वैत शिव हेतुताय अश्वता का जो कारण है वह परिकल्पित है कल्पनात्व है भेद है वो न होने कारण है ये जो ब्रह्म जो आत्मा है वो अद्वैत है वही शिवा है वही मंगलमय वस्तु है ऐसा जानना चाहिए इस प्रकार सम्यक दर्शन पिछले तीन चार कार्यक्रमों में विचार इतना परमार्थ जहाँ से शुरू हुई यहाँ तक जो है पारमार्थिक दर्शन जो वास्तविक है सम्यक दर्शन है वो जो सरस्वतियों का सारभूत है वो कह दिया है अजातवाद की है नहीं कल्पना है सब कुछ आप उसकी स्तुति करते जो समय दर्शन है वह यह जो समय दर्शन है उसी को स्तुति किया जा रहा है वीतराग भय क्रोध मुनि वेद पार गई निर्विकल्प ह्ययम दृष्ट प्रपंचो प्रपंचोपशमोद्वय वीतराग भय क्रोध मुनि भी वेद पार इसका अनुभव कौन कर सकता है वही बता रहे क्योंकि समस्या तो यह हम व्यष्टि से ही ऊपर उठकर समष्टि के साथ एक नहीं कर पा रहे और समष्टि के माया को कैसे पार करोगे पहले व्यष्टि से तो उठो समष्टि पर तो पहुंच जाओ फिर उससे आगे की उस समष्टि का उपाय माया से परे हो जाए इसलिए भगवान ने कहा मो माया ग्रहण ये कठिन इसलिए हो पाए कि व्यक्ति व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ पा रहा है समष्टि को ही नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो क्या वो जो है सृष्टि का कल्पना का अधिष्ठान भूता उस व्यापक तत्व तो कैसे ग्रहण करेगा चलिए ये तो है कि भाई ये शरीर में नहीं हूं मैं समष्टि हूं मैं हिरण्य गर्भ हूं मैं ही हिरण्य गर्भ हूं या मैं विराट हूं सारा जगत मेरा शरीर है ये मान के क्यों नहीं चलता है यो सो सोहम अस्मी अंग उपासना बताए इसलिए वह है जो आदित्य मंडलस्थ समस्त समष्टि का जो व्यापक परमात्मा का स्वरूप जो परिच्छिन रूपेण हम अनुभव कर पाते हैं तो आदित्य लोक में विद्यमान हिरण रूप है संजक पुरुष विशेष है और उस पुरुष विशेष का तो यो असौ वह यह जो ऊपर वहा है स्वहम अस्मी वही मई हूँ और जिस प्रकार ये अंग वाला है वो यद चक्षु तक्षुरहम अस्मी यद ज्ञो तष्टव्यास्याम अस्मी ऐसे विचार जो है श्रुतियों में बताया गया वो जो समष्टि के साथ स्व को अभिन्न रूप अंग्रह उपासना करते हुए वृष्टि से समष्टि में जाने के लिए कहा इसीलिए क्योंकि इससे ऊपर उठना ही कठिन है इससे वैराग्य हो जाना जगत से वैराग्य हो जाएगा पत्री बाल बच्चन से वैराग्य हो जाता है सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाता है लेकिन आपका शरीर से वैराग्य नहीं हो पाता है अपने शरीर से वैराग्य होना सबसे बड़ा कठिन काम शरीर से जिस दिन वैराग्य हो जाएगा व्यवहार उसके लिए ऐसा स्थिति बने कि प्रारंभ कर्मानुसार शरीर चलते रहे और कोई रास्ता नहीं उसके क्योंकि ये शरीर उसका अपना शरीर है नहीं समष्टि का विमान कर बैठा है अभी तो ये शरीर कैसे चलेगा वो प्रार सारे नहीं चलेगा उसके सोच ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ईश्वर में तिलक लगा है तो ठीक है नहीं लगा है तो ठीक है तो सुअर में मेरा ही शरीर है उसको तिलक नहीं लगा हुआ होता है ना इसमें नहीं लगने से कहा तो दुखी होगा कोई वो तो सारे विराट रूप ही मेरा अपना शरीर है सारा समष्टि मेरा अपना शरीर है आज इस समय में भी आप देखेंगे कि कई है जिसे कोई गलत ही नहीं आप कुछ शरीर एक में विशेष में ना लगे तो क्यों दुखी होगा होता है इसका मतलब अभी वो व्यक्ति से ऊपर उठा ही नहीं एक शरीर क्रियाकलाप को लेकर के होने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी अभिमान को त्याग नहीं पाया तभी तो एक शरीर में कुछ भी हो जाए उसको लेकर उसके परेशानी नहीं तो कोई परेशानी नहीं समष्टि का पर अभिमान करने लग जाए फिर कोई परेशानी नहीं जैसे आप इस शरीर का अभिमान कर रहे हैं इस शरीर के अंदर जो लाखों करोड़ों अरबों कीटाणु घूम रहे हैं उन पर भी आपका अभिमान है लेकिन आपका अभिमान उस एक कीटाणु पर विशेष रूप से नहीं होता इसीलिए वो कीटाणु मर रहा है जी रहा है या बीमार हो रहा है या वो कीटाणु तिलक लगा ना लगाए आपको कोई परेशानी नहीं होती है ना क्योंकि उस एक व्यक्ति जो इसके अंदर है उसके साथ आपका अभिमान नहीं है उन्हीं पर जब अनुमान करोगे उस एक वृष्टि ऊंचा तत्व चाहे कुछ करे ना करे क्या रहे क्या नहीं रहे साहब कोई मतलब नहीं हो रहा है काम चल रहा है समष्टि का हित में आप हैं उन वृष्टियों का हित में आप हित हित को नहीं देखते हित अहित को आप समझ रहे हैं वृष्टि का हिताहित को नहीं समझ रहे थोड़ा हो गई आप समझेंगे ये समष्टि के लिए हानिकारक है आप ये नहीं देख रहे हैं उसके अंदर जो कीटाणु पैदा हुआ है उस व्यक्ति का हित और हित को कुछ सोचोगे उस व्यक्ति का हित सोचने लगे तो उसको भोजन है उसको खाने पीने दो उसको बड़ा होने दो नखाए को परेशान हो रहे हो उस बच्चे को पालो नहीं उसके साथ आपका अभिमान उस तरह का होता नहीं इसलिए आप इंजेक्शन से दवाई से एंटमेंट से हर तरीके से जितनी बुद्धि चलती है चला कर उसको खत्म करने में लग जाते क्योंकि आप समष्टि का हित को समझ रहे हैं उस वृष्टि का हित को या हित को नहीं समझ रहे हैं इसी प्रकार से इस जगत रूपी समष्टि का विमान करने लग जाए फिर इस एक शरीर रूपी व्यष्टि का हिताहित से आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर समस्त ब्रह्मांड रूपी समष्टि के प्रति हिताहित के प्रति आपका जागरूकता है यही जागरूकता ईश्वर में होता है जिसके से वो क्या कहता है युगे युगे संभवानी समष्टि के अंदर कहीं भी गड़बड़ी होने लगता है तो आपको क्या गड़बड़ विशेष ध्यान जगत देते कि नहीं देखते हैं इस समष्टि में जो खटपट करने वाला जो भी है उसके तरफ आपका विशेष ध्यान जैसे जाता है उसी प्रकार से उस परमात्मा ईश्वर के अंदर भी इस समष्टि का अभिमान कर लेने वाला होने के कारण से इस समष्टि के अंतर्गत रावण रूप एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उसको मारने के लिए प्रयास जरूर करेगा क्योंकि वो आपके शरीर में जैसे फोड़ा है वैसे समष्टि के अंदर रावण देव फोड़ा है इसे उसको मारना जरूरी है नहीं इसी प्रकार हम लोग को भी यहाँ से उठ करके जब तक समष्टि में नहीं जाएंगे वास्तविक वैराग्य हो नहीं सकता है सिर्फ ईद राग कहते तो रहे हम तो विरक्त है जी हमारे जैसे कोई विरक्त नहीं ये वैराग्य का अभिमान सबसे खतरनाक हो जाता है गीता में तो यही चल रहा है ज्ञान का साधन बीस तत्व को गिना रहे हैं यानी अमानित मदम वित्तम इत्यादि इसे विस्तृत वेचन होगा वहां भी उसी बात को यहाँ संशय में तीन चार शब्द में कह दिया वीतराग भय क्रोधी मुनि भी जिनके अंदर राग वीत हो गया भय वीत हो गया है और क्रोध भी नष्ट हो गया है यही तीन है जो खतरनाक चीज काम में दो आ गया राग और भय आपके अपने शरीर के प्रति कामना है इसी वजह से क्या है भय होता है दूसरे वस्तुओं से आपके अपने शरीर के प्रति अनुराग है अतएव वस्तु के प्रति अनुराग होता है राग और भय दोनों ही काम के काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्र कारण भगवान यही तो हमारे अध्यात्म मार्ग के परिपन है तो उस काम को आप थोड़ा विस्तार का विश्लेषण करके राग और भय दो शब्दों का अगर वीत काम वीत क्रोध और काम और क्रोध में भी कार्य कारण भाव है ये भी आपने देखा ध्यान तो स्पष्ट ही है काम और क्रोध बीजाए तो कामना पूरी हुई तो मजा है नहीं पूरी हुई तो बड़ा गुस्सा आता है तो वीत तो राव भय क्रोध मुनि ही और कौश है वो मुनि है वो मरण स्वभाव वाले विवेकी है वेद बार गई वेद के पारगामी तत्व को जानने वाले हैं इसलिए पारावारी ना लिखते हैं ना के प्रमाण पारावारी ना पारावार आर पार सब जान लिए हैं वेद को आर पार जान लिए वेद की पहुंच कहाँ तक है और वेद से बाहर क्या तत्व है वेद से पार क्या तत्व है उसको भी समझ गए ऐसे जो विवेकी लोगों के द्वारा अयम निर्विकल्प ही दृष्ट प्रपंचोपमाद्वय ये जो आत्मा है कैसा है निर्विकल्प आत्मा कल्पनाओं से रहित आत्मा प्रपंच का उपशम होता है जिसमें ऐसा जो पुस्तक को उन्होंने देखा है जो कि अद्वय शब्द से लक्षित किया जाता है अद्वया सवेद समय दर्शन भाष्यकार कहते हैं विगत राग भेद क्रोधा सर्वदोष ही सरला मुनि मननशील ही विधि विगत राग भय लक्षित कर जाने सारे द्वेश क्रोध आदि सर्वदोष ही सकल दोषों से रहित हो गया सर्वदा थोड़ी देर के लिए हुआ ऐसा नहीं सदाई के लिए इन सबसे छुटकारा पा लिया अर्थात औपनिषद पुरुष में परोक्ष ब्रह्मानुभूति हो गया असंप्रज्ञा समाधि का अनुभव किए बिना सदा के लिए मिट नहीं सकते सब असंप्रज्ञा समाधि अवस्था में पहुंचा है लेकिन धर्म में भी समाधि में भी गया नहीं उस व्यक्ति को कहा अर्थात जीवन मुक्त है विषय मुक्त नहीं है वो व्यक्ति यहाँ इस संशय में रहते हुए संसार में रहते हुए भी उस संसार को नहीं देखता आत्मा को देखता है सर्वदा कार मुनि भी मननशील ही विवेक भी मननशील क्या विवेक भी सत्यामृत को सम्यक प्रकार रचन करने में समर्थ जो है यथा हंस ठीक है नहीं जिस प्रकार से हंस दृष्टान्त तो बड़ा सुंदर है ना हंस का किसने देखा भी है हंस तो सुनने को मिलता है किसने देखा तो नहीं मिलता सुनने को तो मिलता है कई चीजें हैं आप सुनते हैं और मानते हैं प्लेन किसने देखा है देख सकता है ऐसा वर्तमान की प्रसिद्धि है जब पारस मणि कौन तो आज को सोना और जो होता ही नहीं सब सोना ही हो जाता कौन छोड़ता पारस मणि लिया सबको छू छू कर सबको सोना बना डालते उसने भी कहा था पारस लोहे को सोना बनाया था लोहा को पारसमणी नहीं बना इसे गुरु की भी तुलना में जो दिया गया वो उचित नहीं गुरु जो उपमा कर देते हैं ना उपमा नहीं तो दिया पारसमणी को तो स्टार्ट बना दिया इसका मतलब क्या है गुरु आपको स्व सदृश बनाता नहीं और लोहा को सोना बना दिया निकट साहब को कुछ तक पहुंचा दिया स्व सदृश तो नहीं बनाया ना ये दृष्टान कैसे बनेगा गुरु के गुरु तो वो होता है तो स्वयं ब्रह्म है दूसरे को ब्रह्म बना दिया अपने शब्द उसको पहुंचा दिया वो गुरु होता है दूसरे मान में भाव उनका बनता नहीं है फिर भी शास्त्र कर्म ये किंचित सादृष्टा लेकर कम से कम इतना तो किया इस जन्म में एक से थोड़ा ऊपर तो उठा तो दिया उतनी ही सही मान करके वेद बार गई अवगत वेदार्थ तत्व ही अवगत वेदार्थ तत्व ही वेद के प्रतिपादित वेद के द्वारा जो मुख्य प्रयोजन भूता जो तत्व है उसको समय प्रकार से जान लिए हुए लोग हैं जो ऐसे उन्हें कौन का क्या है वो ज्ञान भी ज्ञान लोग उन लोगों के क्या अनुभव हुआ निर्विकल्प सर्विकल्प शून्य आत्मा दृष्ट उपलब्ध वेदांतार्थ ही प्रपंच उपशम तारस वेदांतार्थ में ही तत्पर है ऐसे मनशील और विवेक लोगों के द्वारा ही सर्व कल्पनाओं से रहित तो यह आत्मा व्यक्त में उपलब्ध हो जाता है अनुभव हो जाता है प्रपंचो वशम प्रपंचो द्वैत भेद विस्तार तुष्य भाव प्रपंच क्या है यह द्वैत भेद का विस्तार आप देख रहे हैं तस्य उपशमो मैं उसको विषम मेरा अभाव जिस प्रकार से अग्नि का उपशम हो गया लकड़ी लकड़ी दोबारा जला दो तो काम चल जाता है ऐसा नहीं दोबारा नहीं आने का ही इसे कहते अभाव को ही प्राप्त हो गया जिसमें यस्मिन स्वात्मा वो आत्मा ही प्रपंच से उपशमो ये अभाव यस्मिन स प्रपंचोपशमा मैंने आत्मा प्रपंच इसलिए क्या है अद्वय विगत दोष रेव पंडित सन्यासी भी परमात्मा दृष्टम शक्त कहने का मतलब सकदोष रहित सीधा नहीं बोलते सन्यासी भी सीधा बोल दो तो सारे सन्यासी हो जाते लाल पहन लेते हो जाता काम नहीं कहते नहीं नहीं सन्यास धारण कर लो लाल पहनने से कोई जो मुक्ति नहीं मिलने वाला केवल सन्यास लेने से मुक्ति होगा नो गारंटी एक बार ऐसे ही पार्वती बोलने लगी भगवान आपकी ये जो बड़ी विचित्र लीला हुई तो आपने उस अमृत प्राप्त करने के चक्कर में इन लोगों ने जो है मंथन किया अमृत निकला अंत में आदि कृपा यदि आप पहले विश्वास नहीं किए होते ही नहीं होता अमृत क्या निकलता कोई नहीं होते सब खत्म होता और आपने की कृपा से सब हुआ और वो अमृत के चार बूंद चार के छलक पड़ा हाँ कुंभ मेला होता है अल्लाह को करोड़ों आते स्नान करते क्या इन सबको स्वर्ग मिलेगा पार्वती पूछी तो शिव जी ने देखो हो बड़ा विचित्र प्रश्न घुमा फिरा कर कहा पहुंच गई है हमारी महिमा गाते गाते गायदा प्रश्न रख दिया कहते कुंभ में स्नान करने वाले सबको स्वर्ग मिलेगा क्या कहते हैं शिव जी कहते ऐसा ही देखो मैं इसका जवाब दू तो मानेंगे है नहीं क्यों क्यों क्यों तुम्हारे तक चलती रहेगी फिर ऐसे क्यों वैसा क्यों इसलिए अच्छा है प्रैक्टिकल करते चलो इलाहाबाद तुम मेरा हो रहा है वहां चलते तो दोनों आए और कहते हैं महाराज देखो ऐसा है मैं तो डुप्लीकेट धारण कर लेता हूँ ठीक तुम भी एक औरत बन जाओ और मैं कोड़ी बन जाता हूँ ठीक है ना और मैं आधे पानी डुबा रहूंगा और तुम बाहर से हाथ छोड़ छोड़ के प्रार्थना करना दुनिया से जो भी आप स्नान करने भगवान हमारे पति को मैंने स्नान करवाई चक्कर थोड़ा नीचे खिसका दिया आप तो डूब रहे हैं बचाओ उनको बचाओ तो कहते जाना देखना कितने आते हैं किसके हृदय कितना स्वच्छ है कौन किस हिसाब से आ रहा है अरे कोई धर्म कर्म पुण्य पाप को सोच समझ के आ रहा है कि नहीं मर रहा है कोई मर रहा है तो मरने दो अरे ये कैसा आदमी जितने आए सब अपने में बिजी है आए झटवट है भागे आए भागे कौन सुने औरत की बात पार्वती अचंबा रही क्या आदमी इंसानियत भी नहीं लोग अरे ऐसे लोग जो नान क्या फायदा होगा